और ए पैगंबर तुमसे पहले हमने जब भी कोई रसूल या नबी भेजा तो उसके साथ ये वाकया ज़रूर हुआ कि जब उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो शैतान ने उसके पढ़ने के साथ ही कुफ्फार के दिलों में कोई रुकावट डाल दी फिर जो रुकावट शैतान डालता है अल्लाह उसे दूर कर देता है फिर अपनी आयतों को ज्यादा मजबूत कर देता है और अल्लाह बड़े इल्म का बड़ी हिकमत का मालिक है